बेशक तुम अल्लाह के सिवा जिन्हें पूछते हो वो तो सिर्फ बुत हैं और तुम झूठ घड़ रहे हो बेशक तुम अल्लाह के सिवा जिनकी पूजा करते हो वो तुम्हारे लिए किसी रिस्क का इख्तियार नहीं रखते तो अल्लाह के हाथ से रिस्क तलब करो और उसी की इबादत करो और उसी का शुक्र अदा करो उसी की तरफ तुम वापस किए जाओगे